और जब समुद्र फाड़ दिए जाएंगे और जब कब्रें खोल दी जाएंगी उस समय प्रत्येक व्यक्ति को उसका अगला पिछला सब किया धरा मालूम हो जाएगा ए इंसान किस चीज ने तुझे अपने उस उदार रब की ओर से धोखे में डाल दिया जिसने तुझे पैदा किया तुझे नक्शिक से दुरुस्त किया तुझे संतुलित बनाया और जिस रूप में चाहा तुझको जोड़कर तैयार किया हरगिज नहीं बल्कि वास्तविक बात यह है कि तुम लोग पुरस्कार और सजा को झुठलाते हो हालांकि तुम पर निगरानी करने वाले नियुक्त हैं ऐसे प्रतिष्ठावान कातिब यानी लिपिक जो तुम्हारे प्रत्येक कर्म को जानते हैं यकीनन नेक लोग मजे में होंगे और बेशक दुराचारी लोग जहन्नम यानी नरक में जाएंगे बदला पाने के दिन वे उसमें प्रवेश करेंगे और उससे हरगिज गायब न हो सकेंगे وما ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله और तुम क्या जानते हो कि वो बदले का दिन क्या है हाँ तुम्हें क्या खबर कि वो बदले का दिन क्या है ये वो दिन है जब किसी व्यक्ति के लिए कुछ करना किसी के बस में ना होगा फैसला उस दिन बिल्कुल अल्लाह के अधिकार में होगा